घमाकांत विक्रांत ने अचानक से चिल्लाते हुए कहा फिर उसने बिल्कुल रूढ़ होते हुए बोलना शुरू कर दिया तुम अग्रवाल कॉरपोरेशन के मालिक हो और शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हो फिर भी इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हो तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही सोचो कल अगर न्यूज़पेपर में ये खबर छपेगी कि अग्रवाल कॉरपोरेट्स के मालिक ने एक शादी में पहुंचकर उसे न सिर्फ रोकने की कोशिश की बल्कि शादी की दुल्हन को भी पैसों से खरीदने की कोशिश की छी छी क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी क्या कहा तुमने तुरंत ही रमाकांत मुड़कर विक्रांत की तरफ देखने लग गया उसके साथ ही उसके बॉडीगार्ड्स भी मुड़कर विक्रांत के करीब आकर खड़े हो गए वो मानो बस रमाकांत के इशारे का इंतजार कर रहे हो और पल भर में वो विक्रांत को जमीन पर चित कर देंगे लेकिन रमाकांत ने उन्हें अपने हाथों से इशारा करते हुए रोक दिया तभी उसकी नजर विक्रांत के पुलिस यूनिफॉर्म पर पड़ी ओ तो तुम पुलिस में हो लग रहा है तुम्हें अपनी नौकरी ज्यादा प्यारी नहीं है तुम्हारे डिपार्टमेंट के सारे सीनियर ऑफिसर मुझे सलाम करते हैं और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो बच्चे अपने बाप से बात करने की तमीज सीख लो रमाकांत ने विक्रांत को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा बकवास बंद करो अपनी विक्रांत ने अपनी कमर पर हाथ रखकर बिल्कुल तनकर खड़ा हो गया तुम्हें फालतू की धमकियां किसी और को जाके देना मेरे पास तुम्हारे पुराने काम का भी लेखा जोखा है बहुत जल्द तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है एक बात ध्यान में रख लो तुम अगर तुमने किसी के साथ गलत किया है तो तुम्हें किसी भी हालत में इसका परिणाम भुगतना होगा समझे तुम हर चीज का तुम्हें हिसाब देना होगा विक्रांत ने रमाकांत की आंखों में झांकते हुए कहा इसने इशारों इशारों में रमाकांत को बच्चों की किडनैपिंग वाली बात याद दिलाने की कोशिश की थी विक्रांत को अचानक से ही नैना की कही बात याद आ गई उसने कहा था कि सामने वाले को इतना मजबूर कर दो कि वो खुद ही सब कुछ सच सच बक दे यहाँ पर विक्रांत यही तरकीब आजमाने की कोशिश कर रहा था क्या बोला तूने साले मरना है क्या तुझे अचानक से एक बॉडीगार्ड ने विक्रांत की कॉलर पकड़कर उसे धमकाते हुए कहा लेकिन रमाकांत ने तुरंत ही उसे दूर हटने का इशारा कर दिया विक्रांत अपने चेहरे पर शैतान वाली मुस्कान लेकर रमाकांत को घूरे जा रहा था हे अब जब तुम्हें सुसाइड करने का इतना ही शौक है तो मैं क्या कर ही सकता हूँ अब बस हिम्मत है तो इतना बता दे कि कौन से ब्रांच से हो तुम रमाकांत ने भी हंसते हुए कहा लेकिन उसकी इस हंसी के पीछे कितना क्रोध छुपा हुआ था ये कोई नहीं बता सकता नोट करो नाम Vikrant Vikrant Saxena inspector crime branch D N Nagar Mumbai police अच्छे से याद कर लो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे सारे काले कारनामों का रिकॉर्ड है विक्रांत ने कहा इसके आगे उसने कहा मैं उन्नीस के किडनैपिंग केस पर भी काम कर रहा हूँ ये बात उसने सिर्फ रमाकांत का एक्सप्रेशन देखने के लिए कही थी ताकि वो अंदाजा लगा सके कि वाकई में रमाकांत का इस केस से कुछ कनेक्शन है या नहीं जैसे ही विक्रांत ने किडनैपिंग केस का नाम लिया रमाकांत के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिला लेकिन उसकी आंखें जरूर कुछ कह रही थी बस अब तुम वेट करो देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ रमाकांत ने विक्रांत को घूरते हुए कहा और फिर वो मुड़कर वहां से जाने लगा हाँ हाँ कर रहा हूँ तुम भी वेट करो बस अब मैं बहुत जल्द अशोक और करण को इंटेरोगेट करने वाला हूँ और फिर मैं गजेंद्र ठाकुर को भी ढूंढ लूंगा विक्रांत ने एक और दाव खेला और इस बार रमाकांत फंस गया उसके चेहरे का रंग उड़ गया वो अपनी जगह पर थम गया उसके कंधे कांपने लगे विक्रांत को अच्छे से पता था कि उसके शब्द रमाकांत के होश उड़ाने के लिए काफी है विक्रांत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्या सच में रमाकांत अग्रवाल का किडनैपिंग केस से कोई कनेक्शन है क्या सच में उसकी तरकीब काम कर गई रमाकांत के कदम वहीं रुक गए वो मुड़कर पीछे विक्रांत की तरफ देखने लग गया उसने विक्रांत को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखा और फिर बोल पड़ा क्या कहा तुमने विक्रांत ने उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया वो बस मुस्कुराते हुए रमाकांत की तरफ देखता रहा मानो वो खुद रमाकांत के मुंह से सब कुछ सुनना चाह रहा था रमाकांत कुछ पल तक खड़े होकर विक्रांत को देखता रहा लेकिन विक्रांत चुपचाप खड़ा रहा दरअसल विक्रांत इस वक्त रमाकांत की आंखों में अपना अदृश्य कैमरा फिट करने की कोशिश कर रहा था विक्रांत अच्छे से जानता था कि यहां से जाने के बाद रमाकांत जरूर उसके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लेगा ऐसे में उसका सामना करने के लिए विक्रांत को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है अब चाहे रमाकांत उस किडनैपिंग में इन्वॉल्व रहा हो या ना रहा हो वो किसी भी हालत में विक्रांत को नुकसान जरूर पहुंचाने की कोशिश करेगा इसलिए विक्रांत को सावधान रहने की जरूरत है अपनी सुरक्षा के लिए ही विक्रांत ने रमाकांत की आंखों में अपना अदृश्य कैमरा फिक्स करने का प्लान बनाया ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रख सके इसीलिए विक्रांत बड़े ध्यान से रमाकांत की आंखों में देख रहा था कुछ पल तक विक्रांत को घूरते रहने के बाद रमाकांत ने विक्रांत को नीची नजरों से देखने के बाद कहा बेवकूफ साला इसके बाद रमाकांत वहां से मुड़कर चला गया उसके मुड़कर जाने के बाद ही विक्रांत को लगा कि कहीं रमाकांत पर नजर रखने के लिए ये इनविजिबल कैमरा कम ना पड़ जाए इसीलिए उसने रमाकांत के ऊपर नजर रखने के लिए कैमरे के साथ ही हिडन माइक भी लगाने का प्लान बनाया ताकि वो रमाकांत की बातें भी सुन सके लेकिन जब तक विक्रांत अपने इनविजिबल माइक डिवाइस को रमाकांत के ऊपर फिक्स करता तब तक वो मुड़कर वापस जा चुका था विक्रांत ने फिर भी पीछे से उसके शरीर पर अपना माइक लगाने के लिए फेंका लेकिन तभी रमाकांत के पीछे से एक औरत गुजरने लगी इतफाकन ये अदृश्य माइक उसके ही शरीर पर जाकर फिक्स हो गया रमाकांत वहां से चला गया विक्रांत ने दोबारा से माइक को फिक्स करने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका दरअसल विक्रांत के पास इस माइक को दोबारा से फिक्स करने का कोई मौका नहीं था विक्रांत ने अपना सिर पीट लिया लेकिन तभी उसकी नजर उस औरत पर पड़ी जिसके ऊपर यह माइक फिक्स हुआ था वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी होठों पर गाढ़ी लाल लिपस्टिक थी और उसने सुर्ख लाल और काले रंग की साड़ी पहन रखी थी अब तक रमाकांत यहाँ से जा चुका था तो विक्रांत ने तुरंत अपने कैमरे को चालू करके रमाकांत की ओर नजर रखना शुरू किया रमाकांत उस लॉन से बाहर निकलकर पहले होटल के अंदर की तरफ जाने लग गया रास्ते में वो अपने बॉडीगार्ड से कुछ बात कर रहा था विक्रांत उसकी बातें सुन तो नहीं पा रहा था लेकिन उसे पता था कि वो अपने बॉडीगार्ड से मेरे बारे में ही डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह रहा है इसके बाद रमाकांत सीधे ही होटल के टॉप फ्लोर पर चला गया विक्रांत को लगा कि शायद रमाकांत सच में होटल के मैनेजर से बात करके इस शादी को रुकवाने जा रहा है नहीं नहीं ये नहीं होने देना है मुझे कुछ करना पड़ेगा विक्रांत ने मन ही मन सोचा